विनय आदि सद्गुणों को प्रकट करने वाले उस शक्तिमान विप्र कुमार ने गुरुमुख को साक्षी मात्र बनाकर समस्त विद्याएं ग्रहण कर ली तदंतर नवे वर्ष में विश्व वानर कुमार गृहपति जब माता पिता की सेवा में संलग्न था उस समय इच्छा अनुसार विचरने वाले देवर्षि नारद जी विश्व वानर की पर्णशाला में आए और उस बालक को देखकर अर्घ और आसन ग्रहण करने के पश्चात उन्होंने वहां का कुशल समाचार पूछा महाभाग विश्व वानर उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी शुचि शमती यह बालक गृहपति तुम दोनों की आज्ञा का पालन करता तो है ना क्योंकि पुत्र के लिए तो माता-पिता की आज्ञा का पालन छोड़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है दूसरा कोई तीर्थ नहीं है तथा दूसरा कोई देवता गुरु और सत्कर्म नहीं है त्रिलोक में पुत्र के लिए माता पिता से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है गर्भ में धारण और बाल्यावस्था में पोषण करने के कारण माता का गौरव पिता से भी बढ़कर है समस्त कर्मों का सन्यास त्याग करने वाले सन्यासी के द्वारा भी पिता वंदनीय है उस सर्वबंध सन्यासी को भी प्रतन पूर्वक अपनी माता के चरणों की वंदना करनी चाहिए यह अत्यंत उग्र तपस्या है यही सबसे श्रेष्ठ व्रत है और यही सर्वोत्तम धर्म है कि पिता माता को संतुष्ट किया जाए विश्व वानर कुमार मेरे पास आओ मेरी गोद में बैठो और मेरा दाहिना हाथ दिखाओ तुम्हारे लक्षण कैसे हैं यह मैं देखूंगा देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर बालक गृहपति पिता माता की आज्ञा ले नारद जी को प्रणाम करके भक्ति विनित हो उनके समीप आ बैठा उसे अच्छी तरह देखने के बाद नारद जी ने कहा विप्रवर तुम्हारा यह पुत्र समुच्ची पृथ्वी का पालन करने वाला होगा और दिगपाल पदवी धारण करेगा इसके पास मान ऐश्वर्य होगा इसमें राजा होने के लक्षण हैं यह अत्यंत सुलक्षण बालक है किंतु सर्वगुण संपन्न समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित तथा संपूर्ण निर्मल कलाओं से युक्त होने पर भी इसे दुर्दवेव चंद्रमा की भांति नीचे गिरा सकता है अतः पूर्ण प्रयत्न करके तुम्हें अपने इस शिशु की रक्षा करनी करनी चाहिए बारहवें वर्ष की अवस्था में इसको बिजली की अग्नि से भय है ऐसा कहकर बुद्धिमान नारद जी तथा जैसे आए थे वैसे ही लौट गए नारद जी के चले जाने पर माता पिता को शोक से घिरा हुआ देख गृहपति ने मुस्कुराते हुए कहा माता और पिताजी आप लोगों को इतना भय क्यों हो रहा है आप दोनों के चरणों की धूलि से मेरे शरीर की रक्षा हो रही है मुझे काल भी अपना ग्रास नहीं बना सकता फिर बेचारी बिजली तो बहुत छोटी वस्तु है आप दोनों मेरी प्रतिज्ञा सुने यदि मैं आप दोनों का पुत्र हूं तो ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे बिजली स्वयं मुझसे भयभीत होगी जो साधु महात्माओं का सब कुछ देने वाले और सर्वज्ञ है काल के भी काल काल कोट विषय का भक्षण करने वाले महाकाल है उन भगवान मृत्युंजय की आराधना करके मैं निर्भय हो जाऊं पुत्र की है बात सुनकर बूढ़े ब्राह्मण दंपति इस प्रकार बोले बेटा तुम भगवान शिव की आराधना में जाओ इससे बढ़कर हित की दूसरी कोई बात नहीं हो सकती भगवान शिव का आशीषित फल को देने वाला और काल का भी संहार करने वाला है जिसने तीनों लोगों की संपत्ति का अपहरण कर लिया था उस महाभाग्नि जालंधर को जिन्होंने अपने चरणों के अंगुष्ट की रेखा से प्रकट किए चक्र के द्वारा मार डाला जो ब्रह्मा आदि देवताओं के एकमात्र उत्पादक हैं और अपनी महिमा से कभी चयित नहीं होते उन संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए चिंतामणि स्वरूप भगवान शिव की शरण में जाओ माता पिता की ऐसी आज्ञा पाकर बालक गृहपति उनके चरणों में प्रणाम करके काशी में गया वहां विधि पूर्वक स्नान करके उसने तीनों लोकों के प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान विश्वनाथ का दर्शन एवं उन्हें प्रणाम किया विश्वनाथ जी का दर्शन करके गृहपति के हृदय में बड़ा संतोष हुआ उसने मन ही मन कहा यह दिव्य शिव स्वरूप वास्तव में परम आनंद कंद है इस मोक्षदायक मूर्ति में संपूर्ण विश्व का और विश्व के बीच भूत कर्मों का लय होता है इसलिए यह विश्वनाथ है मेरे भाग्य का उदय हुआ था इसलिए महर्षि नारद ने उस दिन आकर वैसी बात कही थी इसी से आज मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करके कृत कृत हो रहा हूँ इस प्रकार आनंद सुधारस से पारण सा करके गृहपति ने अत्यंत कठोर नियम ग्रहण किया वे प्रतिदिन गंगा के अमृतमय जल से भरे हुए 108 कलशों के वस्त्र द्वारा छाने हुए जल से भगवान शिव को स्नान कराता और उन्हें नील कमल की माला समर्पित करता था वह माला 1008 पुष्पों की बनी हुई होती थी गृहपति 15-15 दिन पर कंद मूल फल भोजन करता था इस तरह उसने छह मास व्यतीत किए फिर छह महीनों तक उसने एक एक पक्ष पर सूखे पत्ते चबाए छह महीनों तक उसने जल की एक एक बूंद का ही आहार किया और छह महीनों तक केवल वायु भक्षण किया इस प्रकार तपस्या करते ही उस बालक के दो वर्ष व्यतीत हो गए जन्म से बारहवें वर्ष में व्रजधारी इंद्र उसके समीप गए और बोले तुम कोई मनोवांछित वर मांगो मैं उसे दूंगा बालक बोला इंद्र मैं आपको जानता हूँ किंतु आपसे उन वर को नहीं मांगूंगा मुझे वर देने वाले तो भगवान शंकर हैं इंद्र ने कहा बालक मैं देवताओं का ही देवता हूँ इससे भिन्न दूसरा कोई कल्याणकारी शंकर नहीं है तुम मूर्खता छोड़कर मुझसे वर मांगो ब्राह्मण बालक बोला पाख शासन मैं भगवान शिव के अतिरिक्त दूसरे किसी देवता से याचना नहीं कर सकता उसकी यह बात सुनकर इंद्र के नेत्र क्रोध से लाल हो गए उन्होंने भयानक वज्र उठाकर उस बालक को भयभीत किया व्रज विद्युत की सैकड़ों ज्वालाओं से व्याप्त व्रज को देखकर ब्राह्मण बालक को देवऋषि नारद के वचन का स्मरण हो आया और वह भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गया इस समय अज्ञान अंधकार को दूर करने वाले गौरीपति भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और अपने इस स्पर्श से इस बालक में नवजीवन का संचार सा करते हुए बोले वत्स तुम्हारा कल्याण हो उठो उठो उसने रात में सोए हुए की भांति बंद नेत्रों कमल की भांति खोलकर नेत्रों को उठकर देखा एक आगे भगवान शिव विराजमान है उनका तेज सैकड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान है मस्तक पर जटाजुट उनकी शोभा बढ़ा रहा है त्रिशूल और आजगव धनुष पिनाक के ये दोनों आयुध उनके हाथों में सुशोभित है कपूर के समान गोर अंग उभ्रादर्शित हो रहा है गुरुजनों और शास्त्रों के वचन से उक्त लक्षणों द्वारा महादेव जी को पहचान कर गृहपति के नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए वह एक क्षण तक ठगा हुआ सा खड़ा हो रहा था स्तुति नमस्कार अथवा कुछ निवेदन करने में भी समर्थ ना हुआ तब भगवान शंकर मुस्कुराते हुए बोले वत्स ग्रहपते तुम भयभीत ना हो इंद्रव्रज अथवा काल भी परे भक्त का मेरे भक्त का कभी भी अनिष्ट करने में समर्थ नहीं है मैंने ही इंद्र का रूप धारण कर तुम्हें डराया था भद्र मैं तुम्हें वर देता हूँ तुम अग्नि पदवी के भागी बनो तुम संपूर्ण देवताओं के मुख होंगे अग्नि तुम समस्त प्राणियों के भीतर विचरण करो इंद्र पूर्व धर्मराज दक्षिण के मध्य भाग में तुम दिग्पाल बनकर रहो और अपना राज्य ग्रहण करो तुमने जो है शिव जी की मूर्ति स्थापित की है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी अग्निश्वर नाम से विख्यात यह सब तेजों को बढ़ाने वाली अग्नि होगी